तो उन्होंने कहा क्या एक आदमी जो हम में से है हम उसकी पैरवी करें बेशक तब तो हम जरूर गुमराही और दीवानगी में होंगे